ॐ वाङ्मे प्रतिष्ठिता मनो मे वासि आदिरा Amen. ऋग्वेदी ऐतिपनिषद प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड के चतुर्थ तृतीय मंत्र का कुछ विचार हो गया था जिसमें उन देवता इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं ने आयतन मांगा रहने का स्थान मांगा व्यष्टि शरीर मांगा उसमें परमात्मा ने चौरासी लाख यानी मनुष्य इतर सारे के सारे शरीर आगे दिखाया कोई भी शरीर पसंद नहीं किया क्योंकि ये एक मनुष्य शरीर में ही यहां से कुछ भी कार्य कर सकता है शुभ कर्म कर सकता है ज्ञान प्राप्त कर सकता है अन्य वन में संभव नहीं है इसलिए देवताओं ने इसी को प्रसन्न किया तो अंतिम में परमात्मा ने मानव शरीर द्वारा पिंड सामने कर दिया तो देवता प्रसन्न हो गए सुकृतम बता ऐसा शब्द कहा बहुत सुंदर है इसमें बैठ करके कुछ जीवात्मा कुछ कार्य कर सकता है पर, परमार्थ संबंधी काम कर सकता है बाकी शरीर भोग के लिए है वहां कुछ नहीं होता पशु होने के केवल तो भोग भोग होता है तो सुकृतम्बत इत्यादि कहा तो परमात्मा ने यथा आयतनम प्रवेश जैसा तुम्हारे स्थान में प्रवेश करो अपना योग्य स्थान में प्रवेश करो आदेश दिया था तो आगे स्थान में प्रवेश करते हैं हम इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता ये आगे मंत्र है वो बतलाना चाहते हैं मंत्र है अग्निर्बाल भूत्वा मुखम प्राविशद वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशद आदित्यक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशद विषहस्त्रोत्र भूत्वा कर्णौ प्राविशन् ओषधय वनस्पत लोमा भूत्वा त्वचं प्राविशत् चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन् मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत् आपोरेतो भूत्वा शिष्टं प्राविशन्

ओषधि वनस्पत लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशस् चन्द्रमामरो भूत्वा हृदयं प्राविशन् मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत् आपो भूत्वा शिष्णं प्राविशन् तो जब परमात्मा ने कहा यथा आयतनम प्रविशत पूर्व मंत्र में कहा जैसा जिसका योग्य स्थान हो वहां प्रवेश करो कहा तब उन अधिष्ठात्री देवताओं ने तब तक इंद्रिय स्वरूप होकर के तब तक तब तक गोलक में प्रवेश किया यही कहते अग्निर बाघ भूतवा प्रथम प्रावेश वो अग्नि मुख से निकला हुआ है मुखाद अग्निर अजायत जब विराट के बारे में चर्चा करते हैं रुद्राष्टाध्याय में द्वितीय अध्याय में तो चर्चा होती है तो चंद्रमा मनसो जात चक्षुर्ोत्रो श्रोत्रो चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायु से मुखाद अग्नि अजायत विराट की चर्चा में प्रसन्न है रुद्राष्टाध्याय में द्वितीय अध्याय तो जिस इंद्रिय से जो देवता पैदा हुए हैं जिस गोलक से जिस इंद्रिय के माध्यम से उस इंद्रिय के माध्यम से उसी गोलक में देवता आगे प्रवेश करते ये बोलना चाहते हैं अग्नि बागवत्व मुखम प्राक्षर अग्निदेवता जो है मुख रूपी गोलक से बाघेन्द्रिय निकली थी बाघेन्द्रिय के बाद में अग्निदेवता निकला हुआ है तो अग्निदेवता जो है वाणी से अभिन्न होकर के वाणी के साथ तादाद में करके इस मुख में प्रवेश किया इस गोलक में प्रवेश किया इसका अग्नि बाघ भूतवा मुखम प्रांशत मानी बाघेन्द्रिय का जो स्थान है अग्नि का भी वही स्थान है एक ही स्थान मुख है अग्निदेव अग्निदेवता वाणी बाघ इंद्र से अभिन्न होकर के मुख में प्रवेश किया प्रांश वायु प्राण भूतवा नासिके प्रांश वायु माने जो प्राण है वो प्राण बन करके घ्राण बन करके इंद्रिय का प्रसक्ति है वो करके नासिका में प्रवेश किया आदित्य चक्षुर भूतवा अक्षरे प्राविश सूर्य है चक्षु सूर्य अजायत है चक्षु से सूर्य पैदा हुआ है यह चक्षु में प्रवेश करेगा वो गोलक में चक्षुर भूतवा अक्षरे प्राविश ये आठ में प्रवेश कर गया आदित्य श्रोत्रम दिशा श्रोत्रम भूतवा कर्णो प्राविशन दिशाएं जितने भी हैं ये देवता है अधिष्ठात्री देवता है वो श्रोत्र इंद्रिय से अभिन्न होकर के काम में प्रवेश कर रहे हैं औषधि वनस्पत हो ये जितने भी हैं सब त्वगिंद्रिय होकर के वायु है सब औषधि वनस्पति वायु देवता है त्वगिंद्रिय बन करके क्या किया ये चमड़ी में प्रवेश कर गया त्वचम प्राविश हाँ, प्राविश है चंद्रमा मनोभूत हृदय प्राविशत एक चंद्रमा जो है मन होकर के मन से अभिन्न होकर के हृदय में प्रवेश किया मृत्यु अपान भूतवा नाभि प्राविशत है मृत्युदेव जो है अपान बन करके मन अपायु इंद्रिय होकर के नाभि में प्रवेश करके बने गुदा के मूल भाग में प्रवेश कर गया और आपो रेतो भूतवा शिष्णम प्राप्त आप शब्द का अर्थ प्रजापति किया था प्रजापति वेद माने इंद्रिय हाँ, शिष्ट इंद्रिय जो प्रजापति है वो शिष्ट इंद्रिय होकर के शिष्ट उपस्थ स्थान में प्रवेश किया इत्यादि बताया भाष्य में कहते हैं तथा अस्तुति अनुज्ञा प्रतिलभ्य <clears throat> ठीक है अपने अपने स्थान में प्रवेश करो कहा था अनुमति प्राप्त हो गई तथा अस्तु जैसा चाहो वैसा करो बोल दिया तथा अस्तुति अनुज्ञा प्रतिलभ्य देवताओं को अनुमति मिल गई परमात्मा से अनुज्ञा प्रतिलभ्य ईश्वर से अनुज्ञा प्रतिलभ्य जो ईश्वर के प्रतिज्ञा अनुज्ञा को प्राप्त करके देवताओं ने नगरिया में बलाधिकृतालय जैसे शहर में राजा के आदेश से जो तो सेनापति आदि बड़े बड़े स्थान पर रहने वाले अपने अपने स्थान में बैठ जाते हैं राष्ट्र की सेवा के लिए रक्षा के लिए राजा के आदेश इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता तत्त गोलक में बैठ गए इस पिंड की रक्षा के अधिष्ठात्री देवता के बिना आंख देख नहीं सकती काम नहीं सुन सकता उस स्थिति में पिंड की दुर्दशा हो जाएगी इसकी रक्षा के लिए तथा अस्तु इति अनुज्ञान प्रतिलभ्य ईश्वर से ईश्वर से अनुज्ञान प्रतिलभ्य ईश्वर की अनुमति प्राप्त करके नगरिया में बलात्कृता दृष्टांत दिया जैसे शहर में बलाधिकारी होते हैं मैंने सेनाधिकारी सेनापति आदि जो बड़े बड़े स्थान प्राप्त लोग होते हैं उस शहर की रक्षा के लिए अपने अपने स्थान में बैठ जाते हैं इसी प्रकार इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता भी अपने अपने गोलक में बैठ गए इस पिंड की रक्षा करते अगर इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हो तो इंद्रिया काम नहीं कर सकते इंद्रिया काम नहीं करेगी तो देखना सुनना नहीं बनेगा पिंड कुछ नहीं कर पाएगा इसकी रक्षा के लिए बलाधिकृतार अग्निर बाघ अभिमानी अग्नि माने वाणी के अभिमानी देवता है वह को भूतवा स्वाम योनि मुखम प्राविशत कहा वाणी ही बन करके बाघेंद्र से अभिन्न होकर के अग्निदेव अपना ही कारण जो मुख है मुख ही निकला था वो मुखाद अग्नि रह जाएगा तो विराट की स्तुति में एक चर्चा में आया है विराट करते हैं मुख से निकला था इसलिए मुख में आगे बैठ गया उपराट करने के लिए स्वाम योनि अपना जो कारण है जहां से वो पैदा हुआ है वहीं आकर के बैठ गया एक अग्निर्बाघ अभिमानी अग्निमानी बाघ के अभिमानी देवता है वो बाघ एव भूतवा बाघ इंद्र से अतिरिक्त अग्नि का स्वरूप नहीं दिखता है वाणी बाघ इंद्रिय स्वरूप ही होकर के स्वाम योनि मुखम प्राविशत अपना जो कारण है जहां से वो पैदा हुआ था तो वहीं आकर के प्रवेश कर गया मुख में प्रवेश कर गया था तथा उपदार्थ मान बाकी सब ऐसे ही है सारे परिवार में ऐसे ही समझना जो जो अधिष्ठात्री देवता है जहां से पैदा हुए हैं वहीं आगे बैठ गए अपने कारण में बैठ गए वायु नासिके वायु आकर के नासिका में प्रवेश किया आदित्य अक्षिणी सूर्य जो है चक्षु का अधिष्ठात्री देवता है उसके गोलक यहाँ अक्षी में आकर के बैठ गया गोलक में आके बैठ गया चक्षु से पैदा हुआ इसलिए यहाँ के उपहार करने लगा दिशा कर्ण कहा वो दिशाएं काम है माने स्रोत्र इंद्रिय का अधिष्ठात्रित तो होते दिशा है इसलिए वो स्रोत्र इंद्रिय से अभिन्न होकर के कान में आकर के बैठ गए अधिष्ठात्रित तो होता दिशा है जितने भी हैं औषधि वनस्पत है त्वचम और औषधि और वनस्पति जितने भी हैं वो वायु है वो त्वग इंद्रिय से अभिन्न होकर के चमड़ी में आके बैठ गए त्वक में बैठ गए और चंद्रमा हृदय और चंद्रमा मन से अभिन्न होकर के हृदय में मन का स्थान हृदय है वो यहाँ हृदय में बैठ के चंद्रमा चंद्रमा मनुष्य जाता मन से पैदा हुआ है इसलिए अपने स्थान में आके बैठा मृत्यु और नाभिम कहा मृत्यु नाभि का अर्थ बुधा का मूल भाग है यहाँ नाभि शब्द का अर्थ हाँ। मृत्यु देवता है और अपान से अभिन्न होकर के नाभि के मूल स्थान में आकर बैठ गए अपान इंद्रिय है वायु इंद्रिय है उसके साथ अभिन्न होकर के आप आप हमारे प्रजापति माने उपस्थ इंद्रिय से अभिन्न होकर के वो जो प्रजापति है वो उपस्थ इंद्रिय के स्थान में आगे बैठ गए इत्यादि का टीका <clears throat> में कहते हैं राज्यों अनुज्ञा प्रतिलभ्य बलाधिकृतादय सेनापत्यादयो नगरिया यथा प्रविशंति ये दृष्टांत है जैसे राजा के अनुमति प्राप्त करके जैसे बलाधिकृत बलाधिकृत आदि होते हैं कौन सेनापति आदि बड़े बड़े बड़े बड़े स्थान में रहने वाले उस शहर की रक्षा के लिए मोर्चा संभालने वाले जितने भी होते हैं नगरिया में यथा प्रवेश नगरी में जैसे प्रवेश करते हैं उस स्थान में बैठ करके उस नगर की रक्षा के लिए बैठ जाते हैं ठीक इसी प्रकार इस शरीर रूपी नगर की रक्षा के लिए परमात्मा के आदेश प्राप्त कर अनुमति प्राप्त करके ये देवता अपने अपने स्थान में बैठ गए जिसके कारण देखना सुनना बोलना आदि होता है तो शरीर चलेगा तदवत जैसे राजा के अनुमति से बड़े बड़े अधिकारी लोग उस स्थान में बैठ करके शहर की रक्षा करते हैं नगर की रक्षा करते हैं उसी प्रकार तद्वत उसी प्रकार ईश्वर से अनुज्ञान प्रत्याज्ञा ईश्वर की अनुमति प्राप्त करके उन्होंने आयतन स्थान मांगा था तो स्थान अपने अपने स्थान में बैठो करके बता दिया तो ईश्वर के अनुज्ञा माने अनुमति प्राप्त करके प्रतिलोभ प्राप्त करके अग्नि में प्राविशत अन्वया अग्नि प्रवेश कर गए अपने योनि में मुख में भागवत वाणी होकर के अग्नि प्रवेश कर गए इत्यादि का वर्णन यद्यपि बाघ अभिमानिनी अग्नि न तो बाघ एवं यद्यपि इंद्रिय और देवता फर्क है वाणी के अभिमानी देवता है अग्नि वाणी तो नहीं है वो बाघ इंद्रिय तो नहीं है अग्नि ये कहते यद्यपि बाघ अभिमानी नहीं अग्नि वाणी के अभिमानी देवता है अग्नि न तो बाघे वाणी तो नहीं हो बाघ इंद्रिय तो नहीं अग्नि अलग है वो देवता है तथापि तस् बाचम बिना प्रत्यक्ष अनुपलब्धि फिर भी बाणी के बिना अग्नि की उपलब्धि नहीं होती है बोलने की शक्ति जिस अग्नि से प्राप्त होता है वो अग्निदेव है वो वाणी के बिना उसकी उपलब्धि नहीं होती प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए तस्या आदि देवता बिना और वाणी के भी देवता उपकार नहीं करे अग्नि नहीं करे उपकार तो वाणी के भी को नहीं होता ये दोनों की स्थिति ऐसी है माने अग्निदेव की प्रत्यक्षता वाणी के बिना नहीं उपलब्धि नहीं होती वाणी बोलती है इसलिए मैं अग्निदेवता है और वाणी की भी अग्नि के बिना नहीं होता है अग्नि को भी वाणी के बिना नहीं है यही कहते हैं यद्यपि बाघ अभिमानी अग्नि वाणी के अभिमानी देवता अलग है इंद्रिय अलग है यद्यपि फिर भी तथा भी तस्य वो जो अग्नि अग्नि है उसका वाचम बिना प्रत्यक्षम अनुपलब्ध है वाणी के बिना उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होने से नहीं होती इसलिए तस्या भी मैंने जो बाक है बाघ इंद्रिय उसको भी देवताओं बिना स्व विषय ग्रहण ग्रहण सामर्थ्य अभाव अपने विषय का ग्रहण वो बोलना उसका वक्तृत्व जो विषय है बोल नहीं पाती अग्नि के बिना जब अग्निदेव उसको छोड़ देंगे तो बोल नहीं सकती है तयोर एक लोली भावे ना वो दोनों एक ही जैसे लगते हैं अभिमानी देव और इंद्रिय तयो माने उन दोनों का एक लोली भाव है एक ही होने से अभेद होती विद्या इसलिए एक ही का उसके बिना उसका काम नहीं चलता उसके बिना उसका काम नहीं चलता बाणी के बिना अग्नि की प्रत्यक्ष नहीं है अनुभूति नहीं होती है और अग्नि के बिना वाणी अपना काम नहीं कर सकते बोल नहीं सकते इसलिए दोनों को मिलाकर ही एक ही काम टिप्पणी एक नंबर की बाघ अभिमानी देव न तो बाघ यदि अन्वय यद्यपि अग्नि बाघ के अभिमानी देवता है वो बाणी ही नहीं है बाणी से अतिरिक्त है फिर भी वो दोनों में ऐसे उपकारी उपकारक भाव है बाघ इंद्रिय बोलती है तो अग्नि है करके जाना जाता है अग्निदेव है तभी बोल रही है और अग्निदेव न हो तो बाणी बोल नहीं सकती उसके लिए भी उसकी जरूरत है और उसकी अनुभूति के लिए बाणी की आवश्यकता ठीक है में कहते हैं यद्यपि देवता नाम एवं ईश्वरेण प्रवेश चोदित तथा भी करणेर बिना तासाम साक्षात अदनादि भोग असंभवात तेषा में प्रवेशो अर्थात चोदित एवं तेषा में जो सा उगता कहते यद्यपि देवताओं के लिए कहा था परमात्मा ने यथास्थानम प्राविशत यथा आयतनम प्राविशत प्रविशत करके देवताओं के लिए कहा है देवताओं ने आयतन मांगा था इंद्रियों ने तो नहीं मांगा तो देवताओं के लिए देवताओं के लिए मांगा देवताओं को अनुमति दी थी ये कहते हैं यद्यपि देवता नाम एवं ईश्वर का प्रवेश तो प्रवेश जो है ईश्वर के द्वारा देवताओं के लिए कहा है प्रेरणा दी थी तथा फिर भी कर्णैर बिना तासाम साक्षात अदनादि भोग असंभव देवता खाली रहेंगे इंद्रिया नहीं होंगी विषयों का ग्रहण कैसे करेंगे अपने अपने विषय उनका देवताओं को विषय भोगना संभव नहीं इंद्रियों के बिना विषय भोगने के लिए देवताओं को इंद्रिय चाहिए ये कहा तथापि करणैर बिना आसाम मन देवता नाम उन देवताओं को इंद्रियों के बिना साक्षात अदनादि भोग असंभव साक्षात मान बोलना आदि मान ये जो खाना आदि होगा वो बनेगा अदनादि भोग असंभव तेसाम अपनी मान इंद्रियाणाम अपनी इंद्रियों का भी प्रवेश प्रवेश हो अर्थात चोरी देव अर्थ से इंद्रियों का भी प्रवेश है नहीं तो देवता प्रवेश करके क्या करेंगे उनको विषय ग्रहण करना है विषय ग्रहण कर नहीं पाएंगे इंद्रियों के बिना तो इसे अर्थ से सिद्ध हुआ है कि इंद्रियों को भी प्रवेश कहा है भी उत्तर सर सौ उत्तर कहा प्रवेश कहा यह इंद्रियों को भी प्रवेश कहा है यह समझना ये बताया आगे देवताओं के लिए स्थान मिल गया सब कुछ हो गया आयतन मिल गया रहने का स्थान हो गया अब भूख प्यास भी अपने लिए आश्रय मानते हैं भूख प्यास जो देवताओं को भूख प्यास लगती है तम असना पिपाशाभ्याम अन्नवार्जक कहा था उस पिंड को भूख प्यास से युक्त कर दिया कहा था माने संसार यदि मिलना हो तो भूख प्यास से शुरू हो जाता है जब भूख प्यास हो गया हाँ तो उस स्थिति में सब कुछ करने लग जाता है <clears throat> ऐसा है <clears throat> तो आगे भूख प्यास भी परमात्मा से अपने लिए आश्रय मांगते हैं अब परमात्मा क्या बोलेंगे तुम तुम्हारे लिए देवताओं के साथ ही अभेद होकर के स्थान होगा जो देवता खाएंगे लेंगे उसी में तुम, तुम्हारी भी तृप्ति होगी कोई चेतन बत्ती खाएगा तो तुम तुम्हारे भी काम हो जाएगा बोलना चाहेंगे आप मंत्र है तम असनाया पिपासे अब्रूताम आवाभ्याम अभिप्रजारी ये अब्रवीत एतास्वेव वाम देवतासु आभयामी एतासु भागिन्यौ करोमीति तस्माद्यस्यै कस्यै च देवतायै भागिन्यौ एव अस्याम् असमायाति पाशे भवत तम् असमायाति पाशे अब्रूताम्

आगिन्यव अश्याम पाशे तम परमात्मा जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है उनको तम परमात्मा असनाया पिपाशे अब्रुताम भूख और प्यास ने कहा अब्रुताम दो वचन है असनाया पिपाशे करता है असना भूख और प्यास ने कहा उस परमात्मा से कहा क्या कहा आवाभ्याम हमारे लिए भी स्थान की व्यवस्था कीजिए आप आवाभ्याम हम दोनों के लिए दोनों के लिए भी अभी अभिप्रजानी ही आयतन का व्यवस्था बताइए आप हम कहाँ रहे उनके लिए देवताओं को स्थान दे दिया आपने भूख प्यास ने कहा हमारे लिए स्थान बता दिया कहाँ रहे ऐसा कहने पर ते अब्रवीत उन दोनों को ते उन दोनों को तो द्वितीय है ते स अब्रवीत स परमात्मा अब्रवीत परमात्मा ने उन दोनों को कहा तेज ते द्वितीय का दो वचन है उन दोनों को कहा स्त्रीलिंग व्यवस्था सातेता कामतेता ऐसा है ते उन दोनों को परमात्मा ने कहा अवरवीत का कर्ता परमात्मा ईश्वर ईश्वर ने कहा उन दोनों को एताशु एवं वाम देवतासु आभजा वाम मने तुम दोनों को तुम दोनों के लिए मैं क्या करता हूं एतासु देवतासु इन्हीं देवताओं के साथ में भागीदार बना इन देवताओं के साथ इनका जो स्थान होगा वही तुम्हारा स्थान होगा एक ही स्थान बना दूंगा एक एक करता हूं एतासु भाग्युल्लो करो मैं इन्हीं देवताओं के साथ में भागीदार बना दूंगा भागो अशस्त्री स्त्री भाग, भागिन बना के स्त्री प्रत्यांत गीप लगा के भागिनी बनाया भागी आप दोनों को इन्हीं के साथ में भागीदार बना हिस्सेदार कर दूंगा ये देवताओं के साथ ये जो कुछ है खाएंगे इनकी तृप्ति होगी तो तुम्हारी भी तृप्ति होगी जब व्यक्ति खाता है तो भूख प्यास भी कुछ देर के लिए तृप्त हो जाता है अब नहीं चाहिए वो व्यक्ति तृप्त होता है चेतन जब तो भूख प्यास भी तृप्त होता है कुछ देर के लिए नकार कर देता है कुछ देर बाद फिर लाओ बोलेगा अलग है इन्हीं के साथ में तुम्हारे भागीदार बना दूंगा कहा तस्मात यही कारण है परमात्मा ने उन दोनों को देवताओं के साथ ही भागीदार बनाया हुआ है इसलिए तस्मात यसे ही कश्य जो देवता है ये हमी लिए थे जिस कोई भी देवता के लिए हमी लेते हैं वो भूख प्यास भी साथ में देवता जो खाता है तो भूख प्यास भी तृप्त होते हैं जैसे खाने के बाद देवता तृप्त होते हैं भूख प्यास भी तृप्त होता है कुछ देर के लिए नकार कर देगा ये सही कश्य जो देवता ये हमी क्रिय थे जिस किसी देवता के लिए भी आहुति जब देने की तैयारी होती है इंदिरा स्वाहा करुणाय स्वाहा जो भी बोलना चाहेंगे हम ऐसी स्थिति में भागिन्य एवं अश्याम उस देवता में अश्याम देवतायाम भागिन्यो एवं असमाया से होते उस देवता के साथ ये भी भागीदार होते हैं देवता के तृप्ति के साथ इनकी भी तृप्ति हो जाती है जितने भी बढ़िया चीज हो पेट भरने के बाद खा नहीं सकता है तृप्ति हो जाती है भूख प्यास की भी तृप्ति होती है कुछ क्षण के लिए जब जो व्यक्ति तृप्त हो जाए चेतन तृप्त होता है तो साथ में भूख प्यास भी तृप्त होते हैं ऐसा देखा है एक टीका में कहते हैं असनाया पिपाशयोरपी व्यष्टि देहे भी कर्णाधिष्ठात्र देवता संबंध महत्व तय प्रश्न होता रहती असनाया पिपाशा ये दोनों के लिए व्यष्टि शरीर में उनके माने आश्रय अभी बताया नहीं है भूख प्यास के लिए असमाया शरीर भी ये दोनों को भी भूख प्यास के लिए भी बेष्टि देह बेष्टि शरीर में भी उनको परमाधिष्ठात्र देवता संग इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देवता है उन्हीं के साथ इनका संबंध होगा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता क्या जो आयतन होगा वही आयतन इनका होगा कर्णाधिष्ठात्री देवता संबंधम कर्ण के जो कर्ण वाले इंद्रिया हैं इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के साथ इनका संबंध बदलाने के लिए तयो प्रश्न अवतार उन दोनों का प्रश्न तयो ष्टी उन दोनों का भोग प्यास का प्रश्न है अवतार का एवं इत्यादि का एवं लवराधिष्ठानासु देवताशु निरधिष्ठाने सत्यौ असनाया पिपासे तम ईश्वरम अभ्रुताम एक इस प्रकार से लब्धा अधिष्ठानम यही देवता यही देवता भी जिन देवताओं ने स्थान प्राप्त कर लिया ऐसे देवताओं के प्राप्त होने के पश्चात लब्ध अधिष्ठाना देवता हो जाएंगे तासु देवतासु जिनको स्थान प्राप्त हो गया रहने का स्थान मिल गया है तब तक इंद्रियों का गोलक ही उनका स्थान हो जाता है उस इंद्रियों से अभिन्न होकर के अधिष्ठान देवता उन गोलों में निवास कर रहे हैं लब्धादि आशु लब्ध हो गया है अधिष्ठान जिन देवताओं के लिए ऐसे देवताओं को स्थान मिल जाने पर देवतासु निर्दिष्टान है ये दोनों के लिए अधिष्ठान नहीं मिला है प्रथमा के दो वचन निर्दिष्टान निर्दिष्टान निर्दिष्टान निर्गता अधिष्ठान यही हो जिनके अधिष्ठान नहीं है रहने का स्थान नहीं है भोग प्यास का निर्दिष्ठान है सत्य हाँ। निर्दिष्ठान होते हुए माने उनको रहने का आश्रय नहीं है भूख प्यास के लिए ऐसे होते हुए असनाया पिपाश है जो भूख प्यास दोनों तम ईश्वरम अब्रुताम उस ईश्वर को कहा उस सृष्टिकर्ता परमात्मा को इन दोनों ने कहा क्या कहा मैंने अवृता मैंने उतवट्टो बोल दिया इन दोनों ने कहा क्या कहा आवाभ्याम अधिष्ठानम अभिप्रजान ही चिंतय विदत्स्व हम दोनों के लिए अधिष्ठान के चिंतन करो माने अभिप्रजानी ही माने चिंतन करो चिंतन करो नहीं चिंतन विधान करो विपूर्वधा करो त्यर्थ हमारे लिए व्यवस्था बनाओ आप कहाँ रहना है आपने भूख प्यास को कहा भूख प्यास ने ऐसा परमात्मा से कहा तो ऐसा कहने पर स ईश्वर भोग प्यास के द्वारा ऐसा कहा गया ईश्वर हमारे लिए व्यवस्था करो कहा तो वो ईश्वर स ईश्वर एवं उगता इस प्रकार भोग प्यास के द्वारा कहा गया जो ईश्वर है वह ते असनाया पास है ते ये द्वितीय के दो वचन उन दोनों को दोनों को परमात्मा ने कहा असना पिपाशा दोनों को परमात्मा ने कहा अप्रभुत क्या कहा कहते नहीं युवयोर भावरूपत्वाद चेतनावत वस्तु अनाश्रित अन्न अतिरित्व संभव है आप दोनों भाव रूप हैं मान धर्म रूप है धर्म है भोग प्यास एक धर्म है प्राण का धर्म चाहे किसी का भी धर्म धर्म है व्यक्ति नहीं धर्म है धर्मी नहीं युवयोर भाव रूपत्व धर्म रूपत्व आप दोनों धर्म है तो आप अपने आप खा नहीं सकते धर्मी वो करेगा धर्म नहीं कर सकता आप दोनों धर्म हो धर्म होने चाहिए चेतनाबद्ध वस्तु अनाश्रित जो चेतना वाला वस्तु बने चेतन चेतनावान जो होगा चेतन होगा चेतन में आश्रित हुए बिना आप दोनों खा पी नहीं कर पाओगे कोई कार्य नहीं कर सकोगे ये कहते हैं भूख प्यास के लिए युवयोर भाव रूपत्वाद आप दोनों धर्म स्वरूप हैं धर्मी नहीं है धर्म है भाव मन धर्म धर्म रूप है आप दोनों भूख प्यास एक धर्म है जैसे प्राण व्यवहार बोलते हैं धात्म चेतनावत वस्तु अनाश्रित्यम अनाश्रित्य चेतनावान जो होगा चेतन चेतनावान चेतना शक्ति वाला चेतन में आश्रित हुए बिना अन्न अतृत्व न संभव अन्न का सेवन करना संभव है अन्न माने यहां सभी इंद्रियों के द्वारा जो वस्तु गृहित होगा अन्न अत्यधिक अन्न जिस इंद्रियों का जो विषय है उसका उसका वो अन्न है चक्षु के लिए रूप अन्न है श्रोत्र के लिए शब्द अन्न है वाणी के लिए शब्द विषय बोलना अन्न है तत्त कर्म इंद्रियों का तत्त ज्ञान इंद्रियों का जो जो विषय होते हैं वही अन्न इंद्रिय वही वही उनका सेवन करते हैं इंद्रिया तो इसलिए कहते हैं आपको भी अन्न सेवन करना है भूख प्यास को भी जैसे चक्षु को रूप को देख करके तृप्ति होती है तो चक्षु में एक भूख लगी थी रूप देखने की आसक्ति भूख थी वो भी तृप्त हो जाएगी उसके तृप्ति होने पहले भूख थी भूख देखने की जैसे खाने की होती है वैसे देखने सुनने की ये भूख है लालसा है ये कहते हैं युवा और भाव रूप आप दोनों धर्म रूप हो वो जो देवता तो धर्मी थे इसलिए स्वतः वो बैठ पाए आपको कहीं ना कहीं चेतन में आश्रित हुए बिना आप अन्न का सेवन नहीं कर पाओगे अन्न माने तब तक रूप प्रसादी का स्वाद ग्रहण नहीं कर पाओगे भूख प्यास भी ग्रहण करते हैं तृप्त होते हैं खाने पर तो इसलिए कहा युवयोर भाव रूपत्वाद आप दोनों धर्म रूप हो इसलिए चेतनावत वस्तु अनाश्रित जो चेतनावान चेतन होता है चेतनावान चेतना वाला जो चेतन होगा उसमें आश्रित हुए बिना अन्न अतृत्व न संभवती आपको तब तक विषयों का ग्रहण करना संभव नहीं है आपके चेतन में आश्रित होना पड़ेगा इसलिए तस्मात यही कारण है कि इन्हीं देवताओं के साथ में मैं भागीदार बनाऊं वही चेतन है आप दोनों को भी इन्हीं के साथ शामिल कर दूंगा ठीक है तस्मात एतासु एवं अग्नियादिशु अग्नियाद्यासु यही अग्नियादि जो देवता है इंद्रियों के अधिष्ठात्र देव विषय सेवन करने वाले यही है विषय को खाने वाले तब तक अपने अपने विषय को सेवन करने वाले यही है अन्न का आदान करने वाले अधिष्ठात्र देव है इंद्रियों के माध्यम से कहा इसलिए यताशु एवं अग्नियाद्यासु वाम माने विवाह आप दोनों को देवतासु इन देवताओं में अध्यात्म अधिदेवताशु दो प्रकार के देवता हैं अध्यात्म देवता व्यष्टि देवता है यह शरीर में चक्षुरादि के अधिष्ठात्री देवता और समष्टि देवता तो विराट में है चक्षुरादि के अधिष्ठात्री देवता का हाँ, अध्यात्म अधिदेवता दो प्रकार के देवता अध्यात्म देवता और अधिदेव देव देवता दोनों के साथ भोग प्यास को युक्त कर रहे हैं ये कहा देवताशु अध्यात्म अधिदेवतासु आ भजामी आपको मैं यहीं पर संबंध करा देता हूं ऐसा कहा मैंने आ भजामी मैंने वृत्ति संभाग संविभागे न अनुग्रह आप लोगों की वृत्ति व्यापार उसी में लगा दूंगा देवताओं के साथ ही लगा दूंगा एकाशु भाग्यंजऊ कहा इन्हीं देवताओं के साथ भागीदार बना दूंगा ये जो कुछ खाएंगे आपको मिल जाएगा ये देवता जो लेंगे आपको मिलेगा ये तृप्त होने पर आप भी तृप्त हो जाओगे जब खाने पर व्यक्ति तृप्त होता है तो कुछ देर के लिए भूख प्यास में तृप्त हो जाते हैं कुछ देर यही है एकता सुभागिन कहा इसका अर्थ करते हैं यद देवतो यो भाग जो देवता हो जिस देवता वाला अभी खा, खाद्य पदार्थ होगा यद देवता यश्य स यद देवत्य जिसका देवता जो है अलग अलग देवता है रूप का देवता होगा चक्षु सूर्य होगा सूर्य हुआ रूप का ग्रहण करेगा चक्षु में बैठ करके रसना मान रस का देवता होगा भरुण रसना के द्वारा भरुण रस का सेवन करेगा जिस देवता का जो वस्तु है वो वो वस्तु आपका भी होगा आपका भी भागीदार रहेगा कहा मान देवता तृप्त होते हैं तो तुम भी तृप्त हो जाओ भूख प्यास हो जाओ एताशु भाग देवतो यो भागा जिस देवता संबंधी जो भाग होगा साक्ष्य देवता के अधिकार का होता है उसका देवता जो होगा हाँ। तो जो जो हिस्सा हिस्सा होगा जैसे सूर्य का हिस्सा क्या रूप है चक्षु में बैठ करके सूर्य चक्षु का उपकार करता है रूप का ग्रहण करेगा वो उसी से तृप्त होना है उसको ग्रहण इंद्रिय को गंध का ग्रहण करना है तो ग्रहण इंद्रिय में जो देवता बैठा हुआ है वो उसी का ग्रहण करेगा वो अपना अपना जो भाग होगा रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये उनके विषय ग्रहण करना होता है जिस देवता का जो आएगा जिस हिस्सा में आएगा उसी में आपका भी भाग जाता है ये कहा यथाशु देवताशु यथाशु यद देवतो जो भाग है जिस देवता संबंधी जो भाग है अलग अलग देवता है अलग अलग विषय है जिस देवता का जो विषय होगा उसके साथ अभिरादि लक्षण अभि आदि जो भी होगा तस्या तेन भागेन भागिंदो उसी देवता का तेरा ही भाग है ना उस देवता का जो भाग होगा ये जिस देवता का जो भाग तस्या माने उस देवता का तेरा ही भाग है ना उसी देवता के भाग से हिस्सा से भाग इंदो भागवत दो भाग करोगे आप दोनों को भी हिस्सा करोगे देवता के साथ साथ आप भी उसी का सेवन करोगे उसी विषय का जो देवता जो विषय का सेवन करेगा वही विषय आपका विषय सभ्य होगा ये कहा देखिए सृष्टि आदव ईश्वर एवं व्यवधात सृष्टि के आदि में ईश्वर ने ऐसा कहा तदरात भी पूर्वधा तदरात कहा ईश्वर ने ऐसा कहा भूख प्यास के लिए तस्मात इधानी अभी यश्य कश्य देवताय देवताय अर्थाय इस समय भी जिस किसी देवता के लिए देवता के प्रयोजन से भी क्रियते हवी लिया जाता है जब देवता तृप्त होगा इंद्रादि के लिए हवी लिया तो उस इंद्रादि संबंधी भूख प्यास भी तृप्त हो जाएगा यही है यसे कश्य देवता यही और माने अर्थाय देवता के लिए अविर गृहते अभी का ग्रहण किया जाता है इस काल में स्वरूप पूर्ण आसाद लक्षण जो भी होगा ये सब भागिन्य एवं भागवत्यो एवं अश्याम देवतायाम असना असनाया पिपा से बहुत उसे भागीदार होते हैं भूख प्यास जिस देवता के लिए अभी दें साथ में भूख प्यास भी उससे तृप्त हो जाते हैं देवता तृप्त होता है भूख प्यास भी तृप्त होता है ठीक है निर्दिष्ठाने सत्य कारण कारणीभूते विराट देहे अधिष्ठान विशेषो यदि सियाद असनाया पिपाश अग्नियादीना मुखाद तदा व्यष्टि देहे भी तदेव सियाद तयोर अधिष्ठान इव न तो यह तदस्थि कहा निरधिष्ठान सत्यो का अभी तक उनको अधिष्ठान नहीं मिला है भूत प्यास को निरधिष्ठान होते हुए कारणीभूत विराट देहे अगर कारणीभूत जो था अभी तो व्यष्टि देह की बात चल रही है समष्टि शरीर जो विराट शरीर था पहले बना हुआ उसमें विराट देहे अधिष्ठान विशेष यदि शायद यदि अधिष्ठान होता भूखप्यास के लिए कोई अधिष्ठान विशेष हुआ रहा होता अधिष्ठान विशेष यदि शायद अधिष्ठान विशेष होता असनाया पिपास माने वहां असना पिपाशाला क्योंकि अधिष्ठान होता विराट शरीर में होता उस स्थिति में अग्नि आदि नाम मुखादय जैसे अग्नि आदि का मुखादि में प्रवेश हुआ है विराट शरीर में उसी प्रकार यहां भी तदा व्यष्टि देह भी तदेव फिर वही स्थान इनको भी हो जाता मिल जाता भूख प्यास को भी किंतु तयोर अधिष्ठान तेसाम विव न तो यथ अस्थिता इसलिए तयोर अधिष्ठान या जो इन दोनों के जो अधिष्ठान है असना पिपाशा का तेषाम युव न तो ये तदस्थित देवताओं के समान अधिष्ठान नहीं है अभी तक देवताओं को तो अधिष्ठान मिला हुआ है किंतु भूख प्यास को नहीं अतो निर्दिष्ठान है तो इसलिए निर्धिष्ठान है ये तो अधिष्ठान नहीं मिला है भूख प्यास के बारे में चर्चा ही नहीं हुई विधत्स्व इति अनंतरम यशमिन प्रतिष्ठित अन्नम अदाव इति शेष जो विधत्स्व है उसके आगे जैसे देवताओं ने कहा था आयतनम लो अस्मिन प्रजानी यशमिन प्रतिष्ठित प्रतिष्ठिता अन्नम अदामा कहा था वैसे वाक्य इन्होंने भी कहा है यह समझना ये क्रियापद यहां भी लगाना इसी प्रकार कहा विधत्स अनंतरम यशमिन प्रतिष्ठित अन्नम अदाव हम दोनों भी अन्न भक्षण कर सकें अपने अपने विषयों का सेवन कर सकें ऐसा कहा तत्र अधिष्ठान विशेष तावत युवयो कारण समस्ते देहे अभावात अब यहाँ परमात्मा ये बोलते हैं देखो भाई तुम दोनों का अधिष्ठान कारण शरीर में नहीं था विराट शरीर में नहीं था देवताओं को तो था तुम्हारा नहीं था कारण शरीर में तत्र अधिष्ठान विशेष तावत युवयो अधिष्ठान विशेष आप दोनों तुम दोनों का कारण समष्टि देहे अभावात जो समष्टि देह विराट शरीर है उसमें नहीं था अभाव होने से यहां भी नास्ती है यहां भी नहीं है तुम्हारे लिए कारण पूर्वकत्वाद कार्य भी अधिष्ठान कार्य में जो अधिष्ठान तो आएगा कारण में अधिष्ठान होने पर भी कार्य में आएगा कारण पूर्वक होता है कारण में जो बस धर्म होगा वही कार्य में आएगा वहां अधिष्ठान आएगा तुम्हारे लिए कारण में तो यहां भी नहीं है अच्छा ये कहते हैं अधिष्ठान से अदनम तो अदनम तो युवा धर्म रूपा था खाना है आपने विषय सेवन करना है आपने भी जैसे देवता कर रहे हैं अपने भी विषयों का सेवन वैसे आप भी चाहते हो आपको भी सेवन होगा अदनंतु तो, तो आपको सेवन विषय सेवन करना है वह तुम दोनों का धर्म रूपत्व आप दोनों धर्म स्वरूप हो धर्मी नहीं मैंने व्यक्ति कोई विषय का सेवन कर सकता है धर्म नहीं कर सकता ये किसी व्यक्ति में आश्रित होने वाले धर्म है भोग प्यास कोई चेतन में आश्रित होकर के अपना काम करते हैं ये भाव रूप कहा था उसका धर्म कहा गया धर्म रूप तुम दोनों धर्म स्वरूप हो धर्मी नहीं हो व्यक्ति नहीं हो भूप्या से धर्म है धर्म रूप होने से धर्मिणा महाश्रित किसी धर्मी को आश्रय किए बिना तुम्हारे लिए विषय सेवन करना संभव नहीं है धर्म धर्मी में आश्रय हुए बिना विषय सेवन नहीं कर सकता भूप्या से धर्म है ठीक है युवयो धर्म रूपत्वाद धर्म अनाश्रित धर्म से स्वतंत्र अयोगा धर्म की स्वतंत्रता नहीं होती है मान विषय सेवन के लिए धर्मी में आश्रय होकर के विषय सेवन कर सकता है इसलिए चेतनावत धर्मीभूत देवतागतम एवं इसलिए तुम चेतनावान जो देवता लोग हैं चेतना वाला चेतन देवता है चेतनावान होते हैं चेतन देवता चेतनावान चेतनावत धर्मीभूत देवतागतम जो धर्म स्वरूप देवता है उसी में ही अन्न अदनम युवयो इत्या उन्हीं के साथ ही अन्न का सेवन आपका होगा उन देवताओं का जो विषय होगा वो विषय आपका होगा ये बता अन्न का अर्थ अद्यते की अन्नम जिस इंद्रियों के द्वारा जो देवता जो ग्रहण कर रहा है शब्द स्पर्श रूप रस अंदर जो भी ग्रहण करता हो वो तुम्हारा भी होगा उसके तृप्ति में तुम्हारी भी तृप्ति होगी भोग प्यास के लिए ऐसे कहा एक टिप्पणी एक नंबर अदान तु कहा देवतागतम एवं तो अदनम युवयोर अन्नादम यदि देवता में गया हुआ जो प्राप्त जो अदन है वही तुम्हारे लिए अदन होगा युवयोर अन्न अदनम तुम्हारे दोनों का अन्न का अदन वही होगा देवता जो जो विषय लेंगे वही विषय तुम्हारा बनेगा क्यों तुम तो धर्म रूप हो इसलिए स्वतः तुम भोग नहीं सकते तुम्हें किसी धर्म में आश्रित होने पड़ेगा इसलिए देवता में आश्रित करके देवता का जो विषय होगा वही तुम्हारा विषय होगा भोग स ईश्वर इत्यादि कहा स ईश्वर एवं मुक्त ते कृपा से अब्रवेद नहीं और भाव रूपत्व का आप दोनों धर्म रूप हो भाव आत्मा मैंने धर्म रूप टीका में बता दिया तुम दोनों धर्म रूप हो तो स्वतः विषय भोग नहीं कर सकोगे अन्ना आदर नहीं कर सकता धर्म नहीं खा सकता धर्म में आश्रित होकर के करना पड़ेगा तो धर्म देवता हो जाएंगे तो उनके साथ तुम्हारा भागीदार बनाऊंगा धर्मिणों की अचेतन से भोक्तृत्व दर्शनाथ चेतनावत वस्तु यदि उत्तम ये चेतनावत क्यों कहा धर्म भी जो होगा अगर अचेतन होगा तो भोग नहीं कर सकता धर्म भी चेतन होना चाहिए भोग विषय सेवन करने के लिए धर्मी होने पर भी अचेतन हो तो भोग नहीं कर सकता इसलिए कहा धर्मिणों की अचेतन से भोक्तृत्व दर्शनार्थ धर्मी होने पर भी जो अचेतन होगा उसमें भोक्तृत्व नहीं आ सकता है विषय सेवन नहीं कर सकता इसलिए चेतनाबद्ध वस्तु कहा चेतनावान वस्तु तो क्या होगा चेतन ही होगा चेतन में आश्रित हो कभी ही तुम्हारे लिए विषय मिलेगा बोला इसलिए अध्यात्म कहा था कि भाव रूप चेतनाबद्ध वस्तु अनाश्रित अन्नात्रित न संभवती तस्मात एवं अग्नियाद्याशु युवाम वाम युवाम देवतासु अध्यात्म अधिदेवतासु आवश्यामी कहा था इसका अध्यात्म और अधिदेवता का अर्थ हैं अध्यात्म देवता व्यष्टि व्यष्टि देहगता देवता एक एक शरीर में जो इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता है व्यष्टि यह अध्यात्म देवता और अधिदेवता मैंने समस्त विराट देहगता वो अधिदेवता है समष्टि देवता जो बैठे हैं विराट शरीर में समष्टि विराट देहगता हबीरभुजो अग्नियाद है वो ये तो विषय भोगने वाले हैं या जो अग्नियादि बैठे हैं ये हबीरभुज नहीं है ये नहीं कहा सकते आदि ये विषय कहने वाले हैं यहां जो अग्नि बैठा है ये सब बोलने के लिए है वाणी के लिए यही विषय इसका है तो वो जो विराट शरीर में जो अग्नि देवता है वो अग्नय स्वाहा वरुण इंद्राय स्वाहा बोलते हैं उनको मिलता है वो वो देवता है वो अभी भोग है माने एक एक आहुति खाने वाला देवता समष्टि में है और ये पांच विषयों को भोग करने वाले बेष्टि में बैठे हैं देवता वही अग्नि यहां किंतु व्यष्टि में आने से विषय सेवन करने वाले हो जाएंगे अध्यात्म देवता माने व्यष्टि देहगत देवता यही अध्यात्म देवता और अधिदेवता का अर्थ है समस्त विराट देहगता हबीर भुजो अग्निदय प्रसिद्ध एक एक आहुति लेने वाले जो है वो है समष्टि में आश्रित जो देवता है प्रसिद्ध है कर्मकांड जिसमें प्रसिद्ध है तासु उन देवताओं के साथ ही तुम्हारे भागीदार बनाऊंगा ऐसे वृत्ति माने भोगई का देश भोगई का देश दान है ना इत्यर्थ वृत्ति करूंगा तुम्हारी भी विवृत्ति बना दूंगा क्या है भोग का एक देश जो वो भोग करेंगे एक भाग तुम्हें मिल जाएगा आधा हिस्सा तुम्हारा होगा एक आहुति इंद्र को मिला तो आधा हिस्सा तुम्हारी है ऐसा बोल दिया भोगई का देश दान है ना भोग का एक देश का दान कर दूंगा जो विषय भोग करेंगे देवता चाहे बेष्टि में देवता भोग कर रहे हों रूप और रसादि का भोग कर रहे हो चाहे समष्टि में आहुति का भोग कर रहे हो तो तुम्हारे आधा मिल जाएगा भोग व्यास को बोल दिया भोग ही का देश दान है ना भोग का एक देश के दान के द्वारा मैं तुम्हें भी उसी में जोड़ देता हूं कहा एक तदेव स्पष्टीकरण इसी को ही स्पष्टीकरण करते हैं क्या भागी भागिनऊ कहा भागी भागिनऊ इसी देवता के साथ भागीदार बनाऊंगा भाग वाले बना दूंगा तुम्हें कहा हिस्सा वाले बना कि जिस जिस विषय का सेवन जो देवता करेंगे उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा ये बताया इसे कहा यथाशु भागी नौ मानी एक देवत्यो जो भाग जिस देवता के हिस्से में जो भाग होगा जैसे बेष्टि में आए हुए देवताओं का अलग अलग रूप रस गंधस्पर्श शब्द ये ये विषय है यहाँ सेवन यही करेंगे ये और समष्टि में जो होंगे यज्ञ के आहुति आदि का सेवन करने वाले हैं वो जिस देवता का जो हिस्सा होगा उसी के तुम्हें आधा तुम्हारा ऐसा हो जाएगा कहा एक तत्व विभाग अविराधि लक्षण अविराधि स्वरूप तस्या उस देवता का तेरह भागे न भाग्य तो भागवत तो काम करो उस देवता के साथ तुम्हें भी उसी भाग के द्वारा आधा हिस्सा तुम्हारा करा दूंगा ये परमात्मा ने कहा यदि सृष्टि आदव ईश्वर एवं वेदनाथ इसलिए सृष्टि के आदि में ईश्वर ने ऐसा कहा यस्माद ऐसा कहा तस्माद इधानी भी ऐसे कैसे सीधे बताए माने आया देवता के प्रयोजन से अभिक्रिय थे चरुपुराशादी जो भी लिया जाता है देवता को उद्देश्य करके लिया जाता है भागिन वो भागवत देवता आया असना के बाद भोग प्यास उसमें आधा शामिल हो जाते हैं ये कहा ठीक है हम स्पष्टीकरण करेंगे सारा साक्षात देवताशु भागवत तो अयोगा देवता भागे न भागवत्व अंशवत्व उत्तम इति व्याख्या साक्षात देवता में हिस्सा नहीं हो पाएगा इसलिए भागवत्व आयोगा भाग करना संभव नहीं इसलिए देवता भागे न देवताओं के साथ ही इनका भी एक हिस्सा हो ऐसा नहीं हो पा रहा है देवता को जैसे दिया जा रहा है इनको अलग से देना संभव नहीं है इसलिए देवता के हिस्सा में हिस्सा देना है देवता को जो मिला उसी में से आधा इनका होगा माना जैसे देवताओं का अलग अलग विषय है वैसा अतिरिक्त विषय इनका है ही नहीं ये कहते हैं साक्षात देवतासु भागवत अयोगा देवताओं के बंटवारे में अकेला बंटवारा इनको नहीं मिला वो क्यों धर्म रूप है चेतन को मिलता है विषय ये धर्म होने से स्वतंत्र विषय है ही नहीं इनका कोई कहा साक्षात देवतासु भागवत अयोगा देवताओं में इनका भागवान बनना भागीदार बनना संभव नहीं है जैसे हिस्सा मिलना देवताओं का अलग अलग वस्तु है वैसे इनका अलग वस्तु नहीं है इसलिए देवता भाग है ना भागवत्व अंशवत्व देवताओं के भाग से ही इनको भी भाग मिलना है जो भाग उनको मिला है उसी में से इनको हो रहा है अंशवत्व उत्तम इति व्याचस्ट इसका व्याख्या करिए एक देवते हो जो भागा जिस देवता का जो हिस्सा होगा अलग से स्वतंत्र इनको कुछ नहीं है जिस देवता का जो हिस्सा होगा वो हिस्से में आधा इनका हो जाएगा सारे देवताओं के आधा हिस्सा इनको मिल जाएगा वो व्यास में यद देवत्यो माने ये देवता संबंधी जो भाग जो देवता संबंधी जो भाग होगा जिस देवता के लिए जो ईसा है भाग होगा चार अच्छा, तस्या देवता आया उसी देवता का संबंधिना संबंधी के माध्यम से उसी देवता के संबंधी संबंध के माध्यम से तेरे भी भाग है उसी भाग के द्वारा जिसको वो मिला है उसी का आधा तुम्हारा होगा हविरादि यदि आदि शब्द है ना तत्त इंद्रिय विषय भी गृहते हविरादि गृहते कहा यश्य कश्य देवता है अर्थाय अभिग्रहित हविरादि हाँ यद्यवत्य जो भाग हो हविरादि लक्षण तो हविरादि मैंने यज्ञ की आहुति आदि है और यह आदि से क्या लेना है अध्यात्म दुर्तान दिशा ही लेना है रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस का अंदर यहाँ के देवता तो यही सेवन करते हैं इनको आहुति नहीं मिलती है यहाँ जो अग्नि देवता बैठे हैं इंद्रियों पर अधिष्ठान गोलक में इनको आहुति नहीं दी जाती आहुति मिलती है समष्टि में रहने वाले देवताओं को विराट शरीर में जो बैठे हैं आहुति के भागीदार ये नहीं होते ये तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग करने वाले वो भी एक एक विषय का जिस देवता का जो हिस्सा बनेगा वो भोग करेगा हविरादि इत्यादि आदि शब्द है ना तब इंद्रिय विषयों की थे तब तत् देवता का तब तत् इंद्रियों का विषय या जो अध्यात्म में रह रहे हैं जो देवता उन देवताओं का विषय होंगे शब्द स्पर्श रूप रसगंध उस उस इंद्रिय अधिष्ठात्री बन करके जो देवता बैठे उस इंद्र का जो विषय यही विषय देवताओं का होना है उससे में आधा हिस्सा भूख प्यास का होना कोई तो रूप देख करके देवता तृप्त हो जाए कुछ देर के लिए तो भूख प्यास की रूप देखने की जो भूख थी वो भी तृप्त हो जाती कुछ काल ऐसा अच्छा भी इति अनंतरम उक्वा इति शेष भागवतो बाम भी इति उक्वा ऐसा होगा सृष्टि आदो ईश्वर वेदधात ऐसा भाष्य में ऐसा होगा कौरव में क्या आगे उक्त तो ऐसा कह करके सृष्टि के आदि में ईश्वर ने कहा ये कहना है उक्तम अर्थम इधानीतन व्यवहार दृढ़ कर्तुम तस्मात इत्यादि वाक्य है तो जो बताया है देवताओं के साथ में भागीदार बनाऊंगा कहा था इस समय के दृष्टांत देकर के आजकल भी जो कोई भी हवि दिया जाता है उसे भूख प्यास भी तृप्त होते हैं जिस देवता के लिए अभी उद्देश्य करके देते हैं आधा हिस्सा भूख प्यास का होता है यस्माद इत्यादि कहा था यस्माद तस्माद इधानी अभी ऐसे कैसे की देवता है अथा अभिप्रियते चरु पूर्णाशादि रक्षण भागिन्य भागवत्यो एवं श्याम देवताया असनाय के पास होते हिस्सेदार होते हैं कहा टीका से स्पष्ट करेंगे यस्मात सृष्टियादव एवं व्यवधात तस्मात सृष्टि के आदि में कहा था परमात्मा ने देवताओं के साथ ही तुम्हारे आधा हिस्सा भागीदार कर रहा हूँ कहा था इसलिए इसी का कारण से आजकल भी कोई हवि आदि दी जाती है तो वो उस देवता के साथ में भूख प्यास भी तृप्त होते हैं ठीक है मैं कहा हवीर ग्रहण उपलक्षण हवीर कष्ट यहां पर जो कहा यश्य कश्य देवता ये हबीर गृह देव हवि शब्द उपलक्ष्य है माने स्वग्रह स्व का ग्रहण करता हुआ अन्य का भी ग्रहण करेगा विषयों का भी ग्रहण करेगा हवि शब्द यही कहते हैं हबीर ग्रहण उपलक्षण अधिदैवतम हबीर गृह थे अधिदैवत जो होंगे वो तो हवि का ग्रहण करेंगे विराट शरीर में रहने वाले हवि का ग्रहण करते हैं देवता और अध्यात्म देवता ये शब्दादि विषय गृह थे अत्यादि देवता होता है शब्दादि विषय है इनके लिए गृहते के साथ ऐसा बताना अविर गृहते शब्दादि विषय गृहते यदि अध्यात्म देवता है शरीर संबंधी है शरीर में बैठे हुए देवता उनके लिए शब्दादि विषय है और विराट शरीर के देवता है तो अविरादि है ऐसा करना है कहा योग का अर्थ करेंगे आगे यद्यपि शब्दादि विषयण हमिषा च अग्नियादि देवता तृप्त तयोर नाश एवं दृश्य कहते हैं यद्यपि देखा जाता है जब ये शब्दादि विषय के द्वारा जब इंद्रियादि ये अधिष्ठातिक देवता तृप्त हो जाते हैं रूप देखते देखते देखते यहां जो सूर्य बैठा था चक्षु में चक्षु का उपकार करने के लिए थक जाता है थक मैंने तृप्त हो गया बस अब रहने दो बोलता है तो ये भूख प्यास का तो नाश हो जाता है कहां भागीदार बनकर उनको तृप्ति होगी भूख प्यास तो नष्ट हो जाते हैं देवता तृप्त होने पर ऐसी स्थिति है भूख प्यास तो नाश होगा यही कहते हैं ठीक है यद्यपि करके बोला यद्यपि शब्दादि विषय ना हमेशा आचार शब्दादि विषयों के द्वारा अध्यात्म देवता तृप्त होने पर और हवि के द्वारा समष्टि देवता तृप्त होने पर तृप्त हो जाने पर अग्नियादि देवता तृप्त हो अग्नियादि देवता की तृप्ति होने पर तयोर नाश है दृश्य थे तयो माने असनाया पिपाशय हो भूख प्यास को तो नाश देखा है अभाव हो जाता है उनका कहा ये तृप्त हो पाएंगे जब देवता तृप्त होते हैं तो इनका नाश होता है भूख प्यास समाप्त हो जाता है समाप्त होने नाश है वो नाश होता है दृश्य न तो तद भाग्य न भागित तो देवताओं के हिसाब से उनको मिलना नहीं ये तो नष्ट हो जाते हैं उस काल में ऐसा देखा है यद्यपि देखा यद्यपि ऐसा होता है न तो तद भाग्य न भागित उनके देवताओं के हिस्सा के द्वारा हिस्सेदार नहीं बन पा रहे ऐसा दिखाई पड़ता है इनका तो नाश ही हो जाता है उस काल में तथापि फिर भी तय सर्वात्मना नाशे पुनः कालांतरे ते नश्या यदि आंशिक नाश होता है उस काल में मोक्षास का जब देवता तृप्त होते हैं देखते देखते देखते चक्षु थक जाती है तो सूर्य तृप्त हो गया उसका नहीं देखना हो बोल देता ऐसा होता है खाते खाते खाते खाते प्राण देवता तृप्त हो गए नहीं खाना बोलेगा यदि भूख प्यास नाश हो गया उसका किंतु सर्वात्मना नाश नहीं है कुछ अंश में नाश हुआ है सर्वात्मना नाश हो तो दोबारा भूख नहीं लगना चाहिए वो मरा हुआ भूख कहां से आएगा दोबारा थोड़ी देर के बाद फिर लाओ लाओ बोलेगा सर्वांश नाश नहीं हुआ कुछ अंश नाश है यही कह रहे हैं यद्यपि शब्दादि विषय अभिशाच अग्नि देवता आये त्रिवता शब्दादि विषयों के द्वारा अथवा अभि के द्वारा समष्टि के लिए अभी के द्वारा तृप्ति करना है उन देवताओं को अग्नि अभ्यस्टि में शब्दादि विषयों के आहुति से तृप्त करना है इनको तृप्त होने पर तृप्त तय और नाश दृश्य भूख प्यास के नाश दिखाई पड़ता है ये समाप्त हो जाते भूख प्यास न तो तद भागे न भागित्व उसके भाग से देवताओं के हिस्से से हिस्सा नहीं मिला इनको ऐसा लगता है वो तृप्त होते हैं इनका नाश होता है ऐसा देखा है किंतु फिर भी तथापि तयो सर्वात्मना नाश है भूख प्यास यदि सर्वरूप से नाश हो जाता है त्यसना पास अगर पूर्ण रूप से नाश हुआ होता तो पुनः कालांतर ते न सतम कालांतर में ते माने असना पिपाशे न सतम फिर नहीं होना चाहिए कालांतर में थोड़ी देर बाद फिर भूख लगती है फिर प्यास भूख प्यास फिर होता है इसका मतलब पूर्ण रूप से नाश नहीं है वो तो तद कालांतर नश्यता अतः स्वरूपेण स्थित स्वरूप तो रहते हैं उस काल में जिस काल में अग्नियादि देवता के तृप्ति काल में भोग प्यास के नाश दिखाई पड़ता है फिर भी स्वरूपता वह है पूर्ण रूप से नाश नहीं है स्वरूप स्थित रेवतो कदाचित इंद्रिय देवता नाम विषय मुखतया प्रेरक रूपत्व कहा स्वरूप से स्थित होते हुए यही कभी कभी कभी क्या होता है इंद्रियों के जो देवता है अधिष्ठाधि देवता बन के बैठे अग्नि देवता है उनका विषयों में मुख्यतः प्रेरक रूपत्व विषयों के लिए भूखा बना देते हैं प्रेरक बना बनते भूख लगती है उनको देखने की इच्छा होती है भूख है सुनने की इच्छा हो गई ये देवताओं को भूख है भूख लगी प्रेरक बन जाते हैं भूख प्यास रूपत्व कार्योन्मोक्षम कार्य की उन्मुखता कर देते हैं देवताओं को विषयों में जाने के लिए तैयारी कर देते हैं प्रबल इच्छा हो जाती भूख भूखा भूख लग गया उनको विषयों के लिए इसलिए जाते हैं कारण मोक्षम कदाचित तद अभाव रूप शांति कभी कभी जब विषय का सेवन करते हैं तो फिर अभाव हो जाता है उनका फिर कुछ देर के बाद में फिर उनकी फिर प्रेरणा कर देते हैं भूख प्यास पूर्ण रूप से नाश नहीं हुए हैं उन दोनों को प्रेरणा देने वाले देवताओं को विषय में भेजने वाले भूख ही होते हैं भूख लगी उनको देखने की भूख सुनने की भूख चखने की भूख खाली खाने की भूख नहीं होती है सारी भूख है ये कहा कदाचित तद अभाव रूप शांति कभी जब विषय सेवन कर लेते हैं उनका अभाव हो जाता है उनमें भूखदास का अभाव रूप शांति उपशांति हो जाती है ये दोनों देखा है देखा माने विषय सेवन के पूर्व काल में ये तैयार हो जाते हैं उनको प्रेरित करने के लिए और विषय सेवन होने के बाद इनका थोड़ा शांति हो जाती है नहीं दिखाई पड़ते हैं फिर कुछ देर बाद फिर उनको प्रेरित कर देते हैं पूर्ण रूप से नाश नहीं होता ये कहा तथा इसलिए क्या सिद्ध हो हमेशा देवता तृप्त अभी के द्वारा देवता तृप्ति होने पर अगर ये स्वाहा करके अग्नि देवता को उद्देश्य करके अभिजान प्रदान किया उसके द्वारा अग्नि देवता तृप्त होने पर असनाया पिपास तृप्तिर उपशांतिर दृश्य थे वो भी अब छटपटाते नहीं है भूख प्यास अब छटपटाते नहीं अग्नि देवता को आहुति मिली तो भूख प्यास भी शांत हो गए इस मतलब उनको भी मिला नहीं तो भूख लगनी थी और भूख नहीं अब शांत हो गए ये कहा तथा झाविषा देवता तृप्त हमी के द्वारा देवता की तृप्ति होने पर असनाया पिपाश भूख प्यास को भी तृप्ति उनको भी तृप्ति हो गई तब तो शांत हो गए हाँ। उछल रहे थे भूख प्यास के मारे अब शांत हो जाते मुझे तृप्ति हो गई उनको भी शांत होना ही तृप्ति है तृप्ति दृश्य थे वह शांत दृश्य थे तद भागे न भागवतों इसलिए कहा उनके हिस्से से उनकी शांति हो गई थी तो उनको भी शांति का छटपटाते नहीं भूमि प्यास हुई जब इंद्राय सुहा करके आहुति डाल दी इंद्र को मिला साथ में भी जो इंद्र को खाने की जो इच्छा जग रही थी वो इच्छा भी शांत हो गई भूख भी शांत हो गई इसलिए ये भी उस भाग से भागीदार हो गए ये सिद्ध हुआ था न चक्षुरादि न रूपादि ग्रहण दशायाम असनाया पिपाशय न शांति दृश्य थे हाँ। क्योंकि न जातु काम कामाना उपभोगेन साम्य ऐसा कहा है इंद्रियों के द्वारा जितने विषय भोग करेंगे और प्रबल इच्छा धधकती है कभी भी शांत होने वाली नहीं और धधकती है ऐसा कहा भागवत नमस्कार ने कहा न जातु काम कामाना उपभोगेन साम्य अभिशाप कृष्णमत्मेव हुए वे इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को विषय दे करके तृप्त करना कोई चाहता हो बिल्कुल गलत करता हो नहीं हो सकता जैसे कोई अग्नि को बुझाना चाहता हो पानी की जगह पेट्रोल डालता हो अग्नि को बुझाने के लिए तो अब धड़क गई अग्नि ऐसी स्थिति में तो इंद्रियों को शांत करना चाहता हो और विषय और देता हो विषय भोग करके इंद्र शांत करें संभव और बढ़ेंगे ऐसा कहा है यही यहां बोलना चाह रहे हैं न चक्षुरादि ना रूपादि ग्रहण दशायाम चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा रूप ग्रहण जब होगा रूप ग्रहण काल में असनाय पिपास और न शांति दृश्य भोग प्यास की शांति नहीं होती और देखो और देखो और देखो होता हो और खाओ और सुनो और सुनो ऐसा होता है भोग प्यास काम मिटती हो वहां तो और और लगता है जितना रूप इसको दिखाओ और रूप देखने की इच्छा होती है हाँ, जितना शब्द सुनाओ और शब्द सुनने की इच्छा होती है तृप्त नहीं होते तो भोग प्यास की शांति नहीं देखी गई है ये कहते हैं न तो चक्षुरादि ना रूपादि ग्रहण दशायाम चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से जो रूपादि का ग्रहण होता है उस काल में असमाया और न शांति दृश्य थे भोग प्यास की शांति नहीं देखी जाती वो तो और प्रबल हो जाती है और इच्छा और भोगने की इच्छा अंधा आदमी को रूप देखना चाहता है कहां शांति हो रही है आग वाला क्या नहीं रूप नहीं देखेगा अंधा को भी इच्छा होती है कि मैं रूप देखू इतने प्रबल इच्छा है कोई भोग है तो भोग प्यास की शांति नहीं है इति न सर्वत्र भागवत तुम तो सर्वत्र भूख प्यास की देवताओं के साथ में देवता तृप्त होने पर भूख प्यास भी तृप्त होते हैं ऐसी बात नहीं है ये शंका कर दी कुर्बानी संख्या शंका ऐसी शंका नहीं करना कहा क्यों क्षुद पिपाशित क्षुदा और पिपाशा से युक्त व्यक्ति है क्षुद पिपाशित अन्नपान दर्शन श्रवणादि ना अन्नपान माने खान पान के द्र माने खाने का वस्तु अथवा पीने की वस्तु के दर्शन से श्रवण से तृप्ति होती रहता है वो भोगे बिना भी भूखा है देखा भोजन है थोड़ा शांति आ जाती है तृप्त हो जाते हैं सुनने पर भी होता है दर्शन से ये कहते हैं अथवा सुना हुआ है भोजन रखा है करके सुना अथवा थाली देख लिया अभी खाया नहीं भूखा है किंतु थोड़ा शांति मिल जाती तृप्ति हो गई ऐसा देखा ये सिद्धांत बोलते हैं क्षुत पिपास क्षुत पिपाशित क्षुत पिपाशा से युक्त जो व्यक्ति हुआ भूखा भूख प्यास से युक्त व्यक्ति का अन्नपान दर्शन श्रवणादि अन्नपान अन्न और पान का दर्शन अथवा श्रवण अन्न देखा या जल देखा प्यासा व्यक्ति की जल देखा थोड़ा शांति मिल जाती है रहे मिलेगा करते और उसके सुनने से भी थोड़ा पानी है जल है या अन्न है सुनने पर थोड़ा शांति मिल जाती है दर्शनार्थ अन्नपान श्रवणादि ना अन्नपान प्रत्याशक्ति परितोष अन्नपान की प्राप्ति की संतुष्टि से परितोष होने से मन से तृष्ठा शांता भवती जो भूख प्यास लगी हुई थी तृष्ठा थी वो कहा मिले कैसा मिले कब मिले शांति हो जाती है भूख प्यास की शांति देखा है विषय सेवन लगी शून्य दर्शन से भी शांति देखा है न तो यथा पूर्व बाधते जैसे पहले परेशान था वो उतना परेशान नहीं रहता सुनने पर या देखने पर यथा पूर्व न बाधते चक्षुरादिशु अभी तयोर भागवतम हेतु इस चक्षुरादि में भी उनका भूख प्यास की शांति दे देखने पर भी तो शांति हो गई ना थोड़ा भूखा आदमी को अन्न देखने पर थोड़ा शांति हो गई तो भूख प्यास की शांति देखा है देखा सायणी दीपिकायाम साय सायणाचार्य जी ने ऐसा वेदभाष्य भाष्य की दीपिका टीका में ऐसा लिखा वस्तु तस्तु वास्तव में तो असनाया पिपाशा शब्द न इंद्रियाणाम शोषण विषय गोचर हो तृष्णा काम उच्चते यहाँ भूख प्यास के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं भूख प्यास शब्द के द्वारा यही बोलना चाहते हैं यही है यहाँ कि इंद्रियाणाम शोषण विषय गोचर हो तृष्णा काम हो या भूख प्यास शब्द का तो बात में भूख प्यास नहीं इंद्रियों का <clears throat> अपने अपने विषयों में जो तृष्णा और काम है अप्राप्त वस्तु की इच्छा को तृष्णा बोलते हैं प्राप्त वस्तु की इच्छा को काम बोलते हैं उसके जो मानी इच्छा विशेष को ही यहां पर भूख प्यास कहा है इंद्रियों को जो इच्छा होती है विषय पाने की वही भूख प्यास है भूख प्यास करते यही है कहा तो बस असाया शब्द है ना इंद्रियाणाम स्वस्थ विषय गोचर अपने विषय को विषय करने वाला जो तृष्णा काम हो उच्चते तृष्णा और काम तृष्णा काम में क्या भेद होता है कहते हैं अलावकालीन इच्छा तृष्णा विषय नहीं मिला उस काल में विषय मिल जाए ऐसे जो इच्छा थी उसको तृष्णा कहा लाभ काल है ना तो सा काम लाभ काल में जो इच्छा होती है उसका नाम काम कहा यही है विवेक्तव्यम ये विचार अलग अलग करना चाहिए कहा अन्नम अदाम इतत्रापि अन्न अदन स्वस्थ विषय ग्रहण एवं चक्षुरादि इंद्रिय देवता नाम मुख्य अदन संवाद जो देवताओं ने कहा था यशमिन आयतने प्रतिष्ठिता संत अन्नम अदाम हम अन्न खा सके जो कहा अन्न माने खाना ही नहीं है तत्त इंद्रियों का विषयों का सेवन करना यह अन्ना है तत्त देवताओं के माध्यम से तत्त इंद्रियों के माध्यम से तत्त देवताओं का तत्त विषयों का सेवन करना यह अन्ना है जिसके द्वारा जो ग्रहण किया जाए वो अन्ना है अद्यतित अन्न ऐसा लेना केवल अन्न माने मुख से डाला जाए वही अन्न नहीं जिस इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण हो रहा है वो अन्न है उसके लिए उस देवता का यही बोलना चाह रहे हैं अन्नम अदानम अदाम इत्यत्र देवताओं ने कहा था हम जिस आयतन में बैठकर के अन्न भक्षण कर सके कहा था लगता है कि खाना ही लगता है किंतु तो ऐसा नहीं अन्नादम अन्नादम स्वस्व विषय ग्रहण एवं तो अन्नादन तो अपने अपने विषयों का ग्रहण करना ही अन्नादम है तब तक इंद्रियों के माध्यम से उन देवताओं को अपने अपने विषयों के से तृप्त होना वही अन्नादन है अन्नादन वही है ये कहा अन्नादम अच्छा चक्षुरादि इंद्रिय देवता नाम मुख्य अदम असमान चक्षुरादि जो इंद्रियों के देवता हैं मुख्य खाना तो बनता नहीं है तो तब तक विषयों का ग्रहण करना ही आदान के लिए जैसे चक्षु में के देवता होता है सूर्य तो रूप का ग्रहण करना ही वो अन्न भक्षण है उसका क्योंकि चावल आदि तो खाता नहीं दाल रोटी खाता नहीं वहां तो प्राण इधर ही खाएगा मुख में होगा भांगी नहीं करते जिस इंद्रिय के माध्यम से जो देवता का जो विषय का ग्रहण हो रहा है उसका वो अन्न है अन्न वाला अन्न का से होगा क्यों तो सभी देवताओं ने प्रार्थना की हम जहां बैठकर अन्न खा सके तो चक्षुरादि के अधिष्ठात्री देवता अन्न तो खा नहीं सकते तो अन्न वाला अन्न का था अपना विषय का ग्रहण कर सके ये आता है तथा रूपादि विषय ग्रहण है ना तत्त विषय गोचर हो तयो शांति रूपादि ग्रह विषय रूपादि विषय ग्रहण के माध्यम से तत्त विषय का विषय करने वाला उनको शांति हो जाएगी जो इच्छा है विशेष है उसकी शांति हो जाएगी विषय मिलने पर शांति हो जाती है ये कहा स्थिति सर्वेंद्रिय स्वप्य तयोर भागवतम युक्तम इसलिए सभी इंद्रियों में भूख प्यास जो इच्छा विशेष है वो भागवान है भाग भाग युक्त हो जाते हैं ये कहा इत्यादि को अच्छा न तो इंद्रिय देवता तृप्ति व्यतिरेक न तयो शांतिरस्ती न तयो पृथक तृप्ति दृश्यति वाच्य कहते महाराज वो तृप्ति केवल इंद्रिय में रहने वाली देवताओं की तृप्ति दिखाई पड़ती है अलग से भूख प्यास की तृप्ति तो नहीं देखते विषय ग्रहण से वो तो देवता परेशान थे विषय मिल गया तो देवता तृप्त हो जाते हैं तो अतिरिक्त वो भूख प्यास की तृप्ति होती है ऐसा तो नहीं देखा ये शंका है न तो इंद्रिय देवता तृप्ति व्यतिरेक इंद्रिय देवता की तृप्ति से अतिरिक्त रूप से न तयो माने जो प्यास है वो असमाप्ति पास आयो पृथक तृप्ति दृश्य थी नवाच्य अलग तृप्ति नहीं दिखाई पड़ती ऐसा नहीं कहना सिद्धांत करते क्यों इंद्रिय देवता नाम स्वस विषय उन्मुखतया प्रेरकत्व रूप कार्यो मुख्य निवृत्ति रूप उपशांति के बाद पृथक तय तृप्ति कहते इंद्रियों को देवताओं को पहले उन्होंने प्रेरित किया था इच्छा भूप्यास प्यास इंद्रिय के जो देवताओं को कार्योन्मुख होने के लिए प्रेरणा दिया था इच्छा बनाई थी इच्छा पैदा कर दी थी इंद्रिय देवता नाम स्वस्व विषय या प्रेरकत्व रूप कार्योन्मुख प्रेरक बने हैं ये भूख प्यास उनके लिए देखने की इच्छा सुनने की इच्छा आदि आदि कार्य अनुमुख के निवृत्ति रूप अब निवृत्ति हो गई विषय मिलने के बाद उपशांति रेव पृथक अयोग तृप्ति ये निवृत्ति होना ही यहाँ उनकी अलग से तृप्ति है अस्तित्व तत्व पहले बता दिया था यद्यपि अर्णव प्रवेश प्रवेशनम असनायादिमत्व तन्निमित्तम तन्निमित्तम अन्न अदमम इत्यादि सर्व कार्यक्रम संघात पंजराध्यक्ष से जीव से भोक्तुरेव न इंद्रिय देवतानाम असनयादि वास आदि तथापि तस् वस्तुतो अभोक्तृत्व ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मभूत स्वतो भोक्तृत्व योगात इंद्रिय देवतादि उपाधि कृतम एवं तस्य भोक्तृत्वादि सर्व संसारित भक्तम तेसु भक्तम आरोग्य श्रुत्या उचित कहते हैं महाराज जो जब अरण्य प्रवेश करना बोला था महती अरण्य प्राविशित बोला था प्रावतन बोला था यह सब बोलना चाहिए जीव को बोलना चाहिए ये देवताओं को क्यों कहा संसार में गिरा हुआ जीव है जीव के लिए बोलना चाहिए था क्यों ऐसा इंद्रियों को देवताओं को कहा ये हम स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं यद्यपि अर्णव प्रवेश हम्म, महती अर्णवे प्राविशत ऐसा है प्राविशन अर्णवे प्रवेश करना संसार समुद्र में गिरना और असनायादि जो भूख प्यास से युक्त हो जाना ये जीव के लिए बोलना चाहिए असनादि बात को तन निमित्त अन्न अदनम और भूख प्यास के कारण से अन्न खाना अन्न का सेवन करना जीव के लिए कहना चाहिए इत्यादि सर्वम कार्यकरण संघात पंजराध्यक्ष से कार्यकरण संगत जो पंजर है इसका अध्यक्ष जो जीवात्मा है जीवस्य भोक्तुरेव जो भोक्ता है उसी को कहना चाहिए ये सब जितने भी बताए हुए कानून जीव के लिए लगना चाहिए न इंद्रिय देवता नाम असनादि पिपास आदि भोग प्यास आदि इंद्रियों देवताओं को नहीं कहना चाहिए जीव के लिए बोलना चाहिए ये सारी बातें जीवों के ऊपर करता है देवताओं के लिए नहीं यद्यपि ऐसा है तथापि फिर भी बात यह है तस्य वस्तु तो अभोक्त वास्तव में जीव भोक्ता नहीं है यही इंद्रियों के माध्यम से भोक्ता बनता है इन्हीं के विषयों को इनके माध्यम से विषय ग्रहण करने ये हैं उसके विषय को ये मान लेता है तो भोक्ता बनता है ये कहने के लिए इनको कहा एक कहते तथापि तस्य मान जीव से वस्तु तो अभोक्तृत्व ब्रह्मभूत वास्तव में ब्रह्म है वो ये भोक्तृत्व आदि औपाधिक है जीव का नहीं है भोक्तृत्व धर्म वास्तव में ये दिखाना आएगा इसलिए उन्होंने देवताओं को कहा अभोक्तृत्व भूत ब्रह्मभूत से स्वतो भोक्तृत्व आयोगा जीव में स्वतः भोक्तृत्व नहीं है जो आया हुआ है औपाधिक है यानी देवताओं के माध्यम से आया हुआ है इंद्रियादि देवता उपाधि कृतम यही उपाधि है इंद्रियादि देवता वो विषय भोग वो कर रहे हैं और जीव में आरोप हो रहा है उनके साथ तादात्म इंद्रियादि देवता आदि उपाधि कृतम तस्य भोक्तृत्व जीवस्य भोक्तृत्व जीव को भोक्तृत्व वही है भोक्तृत्व सर्व संसार यदि भक्तों सारे संसार ये इंद्रियों की उपाधि देवताओं के कारण से इसको मिला हुआ है उसमें तादात्म्य करने के कारण से यदि भक्तों तेसु एवत्तम आरोप इसलिए अदनादि जितने भी संसार धर्म है उन्हीं में आरोप किया देवताओं में आरोप किया श्रुतिया उचित स्तृति के द्वारा कहा जाता है इसलिए कोई दोष नहीं है ये बता दिया उपाधि कृतम में दो नंबर टिप्पणी थी उपाधि अत्र उपाधि कृत एवं इति युक्त पाठ है उपाधि कृत होना चाहिए जीव के लिए बोल रहे हैं पुलिंग है वो उपाधि कृतम कैसे बोल दिया इसको संसार विशेषणत्व सर्व संसार उपाधि कृत एवं संसार सब तो पुलिंग है गाय प्रत्यांत पुलिंग होता है तो पुलिंग में प्रयोग करना चाहिए उपाधि कृतम कैसे बोल दिया अत्र उपाधि कृत एवं युक्त पाठ है यही होना चाहिए टिप्पणी कार्य करते हैं कृतम नहीं होना चाहिए कृत होना चाहिए क्यों संसार विशेष संसार का विशेषण है वो उपाधिकृत संसार है जीव को जो संसार मिला है उपाधि के कारण से कहा भोक्तृत्वादि इति भिन्नम पदम अथवा भोक्तृत्वादि जो आदि है ना वो नपुंसक मान करके युक्तम बोला हुआ है भिन्न पद मान करके संसार अलग और भोक्तृत्वादि अलग भोक्तृत्वादि इति भिन्नम पदम आस्था है तद विशेषण भोक्तृत्वादि को अलग पद मान करके वह विकृतृत्व आदि को नपुंसक मान करके वहां युक्तम होगा ऐसे टिप्पणी कार करते हैं सएव सर्व संसार है वही भोक्तृत्व ही सर्व संसार है यदि पृथक व्याख्या एक अलग से व्याख्या करना चाहिए कहा समय हो गया नहीं रखते हैं फिर करेंगे ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित श्रुतं मे मा प्रभाषेतमेनानीते माहोरात्रान् सन्ददामि श्रुतं वदिष्यामि शब्दं तन्मा